शांत विभीषण हो गया सुनकर यह उपदेश इधर युद्ध करने लगे सीतापति अवदेश रावण कह उठा तो बालक जब पैदल लड़ने आता है तब उससे रथ पर लड़ने में लंका का नाथ ल जाता है जिस तरह निहत्थे बैरे काम वध कर्मा करना कर्मन योद्धा काम जिस तरह निहत्थे वैरे काम वध करना कर्मन योद्धा काम पैदल से रथारूढ़ कर लड़ना भी धर्म न योद्धा का यह कहकर रथ को छोड़ दिया बोला लो मैं भी पैदल हूँ चुटपुट करने के लिए तुम्हें कल के दिन से मैं भी कल हूँ आगे को अब बढ़ गया खींच धनुष की डोर घोर युद्ध होने लगा क्षण में दोनों ओर बाणों से बाण बिंद रहे थे ऐसा बानक था बना हुआ मानो वितान सा बाणों का था समर सभा पर तना हुआ पृथ्वी थे लाल शोड़ित से था लाल गलीचा मखमल का रक्तस्थल बनारण स्थल व नरतन था जहाँ वीर दल का पैदल प्रभु के बाण से गया दशानन हार भूला पिछले वाक्य को रथ पर हुआ सवार रथी देख दश शीर्ष को सुरगण हुआ उदास तब अपना रथ इंद्र ने भेजा प्रभु के पास इस तरह राम बेरते हुए लक्ष्मण भी पास विराज गए कपिभालु गणों के विकट कटक रथ के चारों दिश साज गए श्री राघवेंद्र की जय कह कर ठन गए लड़ाई अब भारी किस खिसियाए हुए किस दल ने वीरता दिखाई अब भारी शास्त्रों में शस्त्र खटकते हैं शस्त्रों पर शस्त्र खटकते हैं योद्धा से योद्धा जुटते हैं रणबा के अंगद हनुमान आगे बढ़ बढ़ कर लड़ते हैं सब और यही आवाजें हैं काटो छाटो पकड़ो खाओ देखो देखो घेरो घेरो मारो मारो धावो धाओ पृथ्वी पर पटने लगे कट कट कर बलवान मुर्दों के बस्ते बने लंका का मैदान रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखाई दी उस प्रलय काल के धनवाने खल दल में प्रलय मचा ही दी जो बाण धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे इस तरह राम के काल बाण लाखों के लिए मिटाते थे इस तरह राम के काल बाण लाखों के लिए मिटाते थे आतिशबाजी वाला अनार जैसे चिनगारियों का घर है त्यों ही राघो का ये बाण अगणित किरणों का दिन कर है विज्ञान कला है अति महान इसको विद्वान जानते हैं बहुतेरे आगम वस्तुओं को वैज्ञानिक सुगम मानते हैं अब बेनित नए नए देखो करता है अविष्कार जगत पर उस त्रेता वाले युग में था वैज्ञानिक भंडार जगत इतना ही नहीं कि एक तीर लाखों के प्राण मिटाता था कहते तो यह है वही तीर तर्कस में फिर आ जाता था थी यह उन्नत विज्ञान कला अथवा मंत्रोपचार था यह जो भी हो प्रभु के वाणों में बल था यह चमत्कार था यह इस प्रकार को दंड से सर जब चले यखंड समर स्थल में रक्त के सरिता बही प्रचंड मानो दोनों मदमाते दल सरिता के तट दिखलाते थे कभी भालुन साचर मरे हुए जल जंतु समान सुहाते थे पड़ रहे भवन थे पहियों के तैरे थे कछुए ढालों के पत्ते थे टुकड़े खालों के छाए सिवार थे बालों के मेदस के जाग दिखते थे लहरे थी टूटे तीरों के ढाहे गिनते थे आर पार कट कर कर मृतक शरीरों की बढ़ बड़ लड़ते थे प्रमुख सुबट क्षण भर भी नहीं ठहरते थे मानोरण की सरिता में उत्तम तैराक तरते थे असुरों का होने लगा जब भीषण संघार तब तो मानो मृत्यु का हुआ गर्म बाजार लाशे पर लाश पटेर रण बन गया मसान लंका का मैदान वह था जब प्रेत स्थान गेधों के झुंड घोट करने रुंडों के पास जुड़ रहे थे काकों के वृंद पेट भरने मुर्दों के निकट उड़ रहे थे चेलों के टुकड़े चीर फाड़ लाशों के टुकड़े करते थे बोटी बोटी के टुकड़ों पर झगड़े पर झगड़े करती थी रात हुई तो नाचने लगे भूत पैताल बोले करकश स्वरों में स्वान उलूक श्रृंगार बैतालियों का तीर्थ मनाम संग्राम भूमि के सरिताव प्रेतनियों का पकवान बनाम मृतकों का मेदा मज्जाव योगिनिया उस बरिया आकर खप्पड़िया खूब सजाती थी चामुंडा लिए खुपड़ियों को उनको खड़ताल बजाती थी इस प्रकार दो दिन रहा घना घोर संग्राम राम बाण से शत्रु आहत हुए तमाम अगले दिन रणभूमि से चले निशाचर भाग लंकापति यह हुआ क्रोध से आग वह बाण लपट पाते छोड़े कपियों का साहस तोड़ दिया श्री राघवेंद्र के रथ को भी उत्तर के दिश को मोड़ दिया सुग्रीव नील नल अंगदाद सबको पीड़ित अत्यंत किया फिर शक्ति बाण द्वारा तुरंत लक्ष्मण को मूर्छावंत किया लक्ष्मण भैया के लगे जो हे शक्ति महान पिछले घटना याद कर बोले कृपा निधान भाई क्यों मूर्छावंत हुए कुछ अपने बल को याद करो बैरी सम्मुख है खड़ा हुआ उठकर उसको बर्बाद करो अब यहाँ सुखेण हकीम नहीं जो औषध तुम्हें बताएगा हनुमत पर इतना समय कहाँ जो जीवन बूटी लाएगा मैं तेरे बल पर लड़ता हूँ क्या तुम मुझको हरवाएगा ओ बाके रघुकुल के छत्री क्या कुल का नाम डुबाएगा फिर हुआ अचेत शक्ति से तो कुछ लाज न तुझे आ रही है ज़्यादा बातों का समय नहीं मेरी भी जान जा रही है मझधारा के चक्कर में लाम क्या क्यों डुबो रहे नैया लक्ष्मण हो तुम में लहू रघुकुल काम तो उठ बैठो भैया लक्ष्मण जीवन में अपने कुछ अनहित मैंने एक क्षण भी की हो तो शक्तिमान तो निष्फल हो सब पीड़ा दूर यति की हो प्रभु के पावन हृदय से जब निकले यह बैन राम राम कह लखन ने खोले अपने नयन जगते ही सौमित्र ने मागा निज को दंड फिर निहार लंकेश को छोड़ा बाण प्रचंड सरथाया बिजली का कौधाम रण में प्रकाश कर छूट गया घोड़ों समेत रथवान मरा रथ लंकेश्वर का टूट गया दस मुख दस्सी सदसान वह पृथ्वी पर गिरा अचेत हो कपिवध को दौड़े प्रभु बोले इस भांति नष्ट दस वदन न हो आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में शोभा देता यह कर्म नहीं मूर्छित बैरी का वध करना है सूरवीर का धर्म नहीं इतने में कुछ निश्चर आए ले गए उठाकर रावण को लंकापुर के घायल घर में पहुँचाया जाकर रावण को बेते आधे रात तब खोले उसने नयन देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन पति चरण दबाती हुई नार हिचकियाँ मार कर रोती थी मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा खोती थी जो ही रावण की आंख खुले दिन के बात आई सर में क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ यह पूछा धीमे स्वर में फूट फूट कर रोने लगे अब अबला के नैन पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसी बहन